प्रति भिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव बेताला किन्नर वेताला किन्नरनिरप सुखगल देवदनु नाना जाते सकल जीव तह आन ही भाति महिषरि सागर सर गिर सब प्रपंच तह ही आना प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल मनुष्य गंधर्व भूत बैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे सभी सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी अण्डकोश प्रति प्रति जिन शयनेक अवधपुरे प्रति भुवन निनारे सरजु भिन्न भिन्न नर नारी दशरथ कौशल्या सुनुताता विविध रूप भरतादिक भ्राता राम अवतारा देखूं बाल विनोदय पारा प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तु में देखी प्रत्येक भुवन में न्यारे ही अवधपुरी भिन्न ही सरजू सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे हे सुनिए दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता भिन्न भिन्नमय देख सबू अति विचित्र हरिजान अगणित भुवन फिर प्रभु रामन देखुआन सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुबीर भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रेरित मोह समीर हे हरिवाहन मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूस, दूसरी तरह का नहीं देखा सर्वत्र वही शिशुपन वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था भ्रमत ब्रह्माण्डयनेका बेते मनहु कल्प फिरत फिरत फिरत निजयाश्रमयाय तः पुनिरहि कछु काल गवाय निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायौ निर्भर प्रेम हरसि उठि धायौ देखूं जन्म महोत्सव जाए यही विधि प्रथम कहा मैं गाए अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गए फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ राम उदर देख्यूं जगनाना देखत बनई न जाहि बखाना तह पुन देखूं राम सुजाना मायापति कृपाल भगवान करऊँ विचार बहोरी बहोरी मोह कलिल व्यापित मति मोरी उभय घरी मह मैं सब देखा भयं भ्रमित मन मोह विशेखा श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे वर्णन नहीं किए जा सकते वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा मैं बार बार विचार करता था मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया देख कृपाल बिकल मोहि बिहसे तब रघुबीर बिहसत हे मुख बाहिर आयो सुनु मत धीर सोई लरकाई मोसन करन लगे पुनिराम कोट भात समझावू मनु न विश्राम मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था